ॐ मां मे मनो मे पासे प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेभिः वेदस्य महानिस्तर सुतम् मे सत्यं ऋग्वेदीय त्रिपनिषद द्वितीय अध्याय के अवतरण भाष्य को विचार कर रहा था प्रथम अध्याय के विशेष रूप से विचार चल रहा है वेदांत मत में एक ही आत्मा है और कुछ भी नहीं सिद्ध करना है तो उसका ज्ञान नहीं होता आत्मा का ज्ञान किसी प्रकार की नहीं होता है जहां आत्मज्ञान संबंधी बातें हैं इतर व्यावृत्ति के लिए प्रयोग तो वो चक्षु आदि इंद्रियों का विषय नहीं है वो तो इंद्रियों का भी ज्ञाता है मन का भी साक्षी है तो मन का भी विषय नहीं होता जब चर्चा चली तो पूर्व पक्ष ने कहा जब इंद्रिया आदि का विषय नहीं होता है फिर तो समय आत्मा विद्या कैसा कहा होगा तो मेरी आत्मा ऐसा जाने तो ज्ञान विषय तो विज्ञा तो दिखाया है दूसरा श्रोता मनता इत्यादि स्थिति ने कैसे बोल दिया आत्मा को श्रोता वाला सुनने वाला बोला है तो इसमें तो समय आत्मा विद्या तो इसके उत्तर तो आगे जाके देंगे तो बहत्तर पृष्ठ भी जाके देंगे पहले जो श्रोता मनता कैसा कहा आत्मा को उसके बारे में चर्चा कर रही श्रोता मनता क्यों बोला गया है वो तो वास्तविक आत्मा श्रोता है अपने स्वरूप से नित्य श्रोता है नहीं श्रुते हाँ। श्रोतृत्व नहीं विपरिलोपते विपरिलुप्यते अविनाशित्या नहीं श्रोतुर श्रुते विपरिलोपते अविनाशित्या अविनाशी है जैसे सूर्य का प्रकाश नित्य प्रकाश है फिर भी वस्तु के संयोग होने पर प्रकाशते का प्रयोग होता है वस्तु के संयोग न होने पर नहीं कहा जाता क्योंकि सूर्य में प्रकाश का अभाव नहीं होता है इसी प्रकार आत्मा में जो विज्ञातृत्व और सूर्यतृत्व उसका स्वरूप ही है जैसे सूर्य का स्वरूप प्रकाश रूप है वैसे आत्मा का स्वभाव है सूर्यतृत्व विज्ञातृत्व वो तो विषय के सान्निध्य से श्रोता बोल देते हैं लोग व्यवहार में वास्तव में नित्य श्रोता है यह अर्थ करना है इसके लिए कहा था विषय संयोग के लेकर के आत्मा कभी श्रोता कभी ममता कभी अश्रोता ऐसा दिखाई पड़ता है ऐसा कहा था इसमें उस शंका उठाते हैं वैशेषिक आदि लोग एक बोलना चाह रहे हैं टीका में अत्र अत्रांतरे अभित अभिप्राया काणादय काणादादय वय भी कादाचित वस्तुति सो गए इस विषय में जिसके अभिप्राय जानकारी नहीं है नहीं नैयायिकों अविदित अभिप्राय अविदिता अभिप्राय ये ना यही जिन्होंने अभिप्राय नहीं समझा ऐसे जो काणार आदि हैं उभयम भी कादाचित है श्रोतृत्व भी कादाचित का है अश्रोतृत्व भी कादाचित का है इंद्रिय संनिकर्ष से होता है उनका कहना यह है कादाचित का तुम वस्तु यदि चौदह ऐसा प्रश्न करते हैं कहा अत्र तो भाष्य में कहा अत्र काणादय पश्यंते काणाद आदि जो द्वैतवादी लोग हैं ये देखते हैं पक्ष प्राप्त है श्रोतृत्वादि ना आत्मा जब सुनाई पड़ता है तो आत्मा है करके जाना जाता है आत्मा को जान जानने के लिए में ज्ञान होता है इसलिए आत्मा है तो ज्ञान उत्पन्न होता है आत्मा में पक्ष प्राप्त तेरह श्रोतृत्व एक पक्ष में प्राप्त है श्रोतृत्व जब विषय का सन्निकर्ष हो जाता है तो उस स्थिति में श्रोतृत्व आत्मा में आता है विषय का सन्निकर्ष शब्द के साथ में सन्निकर्ष नहीं है तो श्रोतृत्व तो नहीं आता पक्ष प्राप्त है वो हाँ पक्ष प्राप्त में श्रोतृत्व एक पक्ष में प्राप्त है श्रोतृत्व अभिधान एक पक्ष में अप्राप्त भी है इसके द्वारा आत्मा को श्रोता कहते हैं जब शब्द सुनता है तो उस काल में श्रोता बोलते हैं और दूसरी बात संयोग जत्व अयोग पद्यम से ज्ञान से आसक्षण है ज्ञान जो होता है संयोग जन्य होता है न्याय मत न्याय वैसे मन और आत्मा के संयोग से आत्मा में समवाय संबंध से ज्ञान पैदा होता है मन का इधर इंद्रियों के साथ संपर्क होगा तो इंद्रिय का शब्द के साथ संकर्ष होगा सन्निकर्ष होने पर इंद्रिय के द्वारा शब्द लाया गया वो वहां ज्ञान है और वो ज्ञान आत्मा के साथ संबंध है तो आत्मा में ज्ञान पैदा हो जाता है मन इंद्रियों के साथ भी मन है मन विषयों के साथ है तो इधर आत्मा के साथ भी मन है तो आत्मा में पैदा होता है ज्ञान ऐसा संभाषण का संयोगजत्व संयोगजन्य है आत्मा और मन के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है समाप्त तत्त विषय का ज्ञान आत्मन संयोग से होता है और अयोग पद्यम से ही आचक्ष एक साथ कोई ज्ञान होता नहीं सभी विषय सामने होने पर भी सभी का ज्ञान एक साथ नहीं होता अयोग पद्य है ज्ञान क्रम से होता है एक साथ में एक ही कहते हैं दर्शयती ये कहा है अन्यत्र मना अभुवम ना दर्शन मेरा मन कहीं अन्यत्र था इसलिए मैंने नहीं देखा चक्षु यही थी रूप भी यही सामने था किंतु मेरा मन कहीं अन्य विषय में फंस गया इसलिए ये इसको नहीं देखा ऐसा बोलते है श्रुति भी है ऐसा इत्यादि पर युगपति ज्ञान अनुपत्ति का न्याय सूत्र है गौतम जी का सूत्र है एक साथ ज्ञान नहीं होता सभी विषय सभी इंद्रिय साथ में है पांचों इंद्रिय है पांचों विषय भी सामने हैं फिर भी एक साथ नहीं होता ज्ञान ये मन है करके ही पता लगता है जिस इंद्रिय के साथ मन ने साथ दिया है उसी इंद्रियजन में ज्ञान होता है विषय का ज्ञान होता है अन्य अन्य विषय का ज्ञान नहीं होता मन का लिंग ये ज्ञापक है मन वैसे दिखता नहीं है साकार वस्तु नहीं है इसे तो कैसे पता लगा मन है करके क्या प्रमाण है क्या एक साथ इंद्रियजन में ज्ञान नहीं होता इसी से पता है कि मन जिस इंद्रिय के साथ दे रहा है उसी तजन्य ज्ञान होता है अन्य का नहीं होता मन है मन न होता तो सभी इंद्रिया हमारे पास हैं और सभी विषय भी सामने हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब सामने हैं पांचों इंद्रिया हमारे पास हैं तो एक साथ ज्ञान होना चाहिए सबका तो एक साथ ज्ञान इसका मतलब मन है जिस इंद्रिय के साथ मन का संपर्क हुआ वही इंद्रिय जन्य का विषय का ज्ञान हो जाता है दूसरे का ज्ञान नहीं होता है मन के लिए हेतु बनता है एक साथ ज्ञान न होना अनुमान से जित होता है मन युगपति ज्ञानानुपत्ति और मनुष्य लिंगम इति न्यायम कहते हैं न्याय न प्राप्तव्यम न्यायम अर्थधर्म पथ्यर्थ धर्म न्यायात अनुपेत ऐसा सूत्र व्याकरण पथि शब्द धर्म शब्द अर्थ शब्द न्याय शब्द से यद प्रत्यय होता है अवश्य प्राप्त आता है धर्म के द्वारा अवश्य प्राप्त को धर्म बोलते हैं न्याय से अवश्य प्राप्त को न्यायम बोलते हैं युक्ति संगत है ऐसा कहते हैं कहा पूर्व पक्ष बोलता है भगवत एवं किम तब नष्टम यही मान लो काराचित ज्ञान होता है जैसे आयु ने माना है इंद्रिय संपर्क होने पर ज्ञान होता है न होने पर नहीं होता कादाचित्र सुरतृत्व आएगा कादाचित्र असुरतृत्व आएगा दोनों जैसे नई आयु आदि ने माना ऐसे हो सुरतृत्व कादाचित्र हो असुरतृत्व कदाचित हो भगवत एवं तब किम नष्टम पूर्व आदि ने कहा ऐसे मानो जैसे वैशेषिकों ने माना है कादाचित का आदि को मानना है जब इंद्रिय संपर्क होगा तो सुरतृत्व आएगा इंद्रिय का शब्द के साथ संपर्क है तो श्रोतृत्व नहीं आएगा तब क्यों नष्ट तुम्हारी क्या हानि हो गई आदि ने पूछा तो सिद्धांत कहते हैं यदि एवं शायद अस्तु पता हो इष्टम से यदि ऐसा हो तुम्हारे लिए इष्ट हो तो ठीक है ये बात सिद्धांत कहते हैं पूर्व पक्ष यदि तुम्हारे लिए इष्ट हो ठीक है हो जाए किंतु श्रुत्यर्थस्तु न संभव श्रुति का अर्थ तो ऐसा नहीं होता आत्मा में कादाचित तो श्रोतृत्व नहीं हो सकता नित्य श्रोतृत्व आत्मा में वो तो विषय का अभाव होने के कारण से वह श्रोतृत्व नहीं दिख रहा है जैसे सूर्य नित्य प्रकाशमान होता है प्रकाश पुंज है विषय होने पर प्रकाशते का प्रयोग होता है विषय न होने पर प्रकाश स्वरूप तो है ही वो ऐसे आत्मा भी नित्य स्रोता है ऐसे बोलना चाह श्रुत्यर्थ रसम बोलते श्रुति का अर्थ कादाचित्र श्रोतृत्वादि कहने का तात्पर्य श्रुति का अर्थ तो पूर्व पक्ष पूछता है किम न श्रोता ममता इत्यादि श्रुत्यर्थ क्या ये श्रोता ममता इत्यादि जो कहा श्रुति का अर्थ नहीं है क्या श्रोता ममता विज्ञाता ऐसा श्रुति बोलती है वो तो श्रुति का अर्थ नहीं है क्या श्रेता न श्रोता न ममता इत्यादि योजना न श्रोता भी तो कहा है ना खाली श्रोता मंदा थोड़ी कहा है दोनों को संगति लगानी पड़ेगी एक पक्ष लेके काम नहीं चलेगा खाली श्रोता मंदा तो काम नहीं चलेगा न श्रोता न मनता ये भी स्मृति बोलते श्रोता न श्रोता मनता न मनता ऐसा बोलती है दृष्टा अदृष्टा न श्रोता न मनता इत्यादि हो जाए आत्मा को न श्रोता है न मनता है बोलती स्मृति ऐसा कहा टीका से स्पष्ट हो जाएगा टीका में देखें नानो सिद्धांतिना भी श्रोतृत्व अश्रोतृत्व अंगीकारात् सिद्धांत में तो दोनों स्वीकार किया ना अभी पूर्व भाष्य में कहा था यदा श्रोता तदा अनुमंता यदा च तो मनता तदा श्रोता पूर्व भाष्य बोला था आत्मा तब सुनता है तो श्रोता बनता है शब्द सुनने पर श्रोता होता है उस काल में मनता नहीं होता जिस काल में मनता बनेगा उस काल में श्रोता नहीं होता वो मनन करेगा उस काल में तो कादाचित नहीं दिखता है श्रोतृत्व मनन काल में श्रोतृत्व नहीं है श्रोतृत्व काल में मंत्रित्व नहीं है तो कालाचित है दिख रहा है एक पूर्वाजी पूछता है नानो सिद्धांत नापी जो आप सिद्धांत के आपके द्वारा भी श्रोतृत्व अस्त्रित्व अंगीकारा दोनों स्वीकार किया है तो नहीं आएगी भी स्वीकार कर रहे हैं कालाचित श्रोतृत्व क्या फर्क पड़ा आपके मत में उनके सिद्धांत इरा भी श्रोतृत्व अस्तृत्व अंगीकारात अश्य सिद्धांतात कथम भेदा अश्य माने ये नहीं आएगी वैशेषिक मत में कि वैशेषिक का सिद्धांत से कैसे भेद आएगा वेदांत के साथ क्या भेद आया जो वैशेषिक मत ही हो गया वो भी कादाचित का श्रोतृत्व आदि मानते हैं आप भी वैसे मान रहे हैं जब श्रोता बनेगा तो मनता नहीं होता मनता बनेगा तो श्रोता नहीं होता आप ही बोलते हैं तो कादाचित का है आपके मन में भी उन्होंने भी कादाचित का माना है तो क्या भेद आया तब कहते हैं तन मते नित्य साक्षण नित्यत्व में श्रोतृत्व कादाचित का ज्ञान से मृषात्व न भाव अच्छा, नित्य में असंख्य वेदांत मत में दोनों ही नित्य है श्रोतृत्व भी नित्य है अश्रोतृत्व भी नित्य है दोनों नित्य है ऐसे तन मते मानी सिद्धांति मते वेदांति मते वेदांति के मत में नित्य साक्षी और नित्य साक्षी नित्य है तो उसमें नित्य ही श्रोतृत्व भय सुनने के योग्यता वहां है हमेशा ही है जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश है हाँ, वो तो श्रुति का भी श्रोता माना है ना साक्षी को नहीं हाँ ऐसा है श्रोतु श्रुते श्रोता का जो श्रुति है साक्षी का जो श्रवण है वो कभी अभाव नहीं होता नित्य श्रोता है वेदांति मत ऐसे तन मते माने वेदांति मते नित्य साक्षर साक्षी नित्य है और वहां नहीं श्रोतुर श्रुतिर विपरीत को विद्यते अविनाशित्वाद ऐसा है श्रोता का जो श्रुति है बाह्य जो शब्द के श्रवण है तो अनित्य है किंतु श्रोता का जो श्रुति है माने शब्दजन्य जो ज्ञान होगा वो जो वृत्ति बनेगी वो वृत्ति का जो साक्षी है शब्दजन्य वृत्ति जो बनती है शब्द सुनने के बाद में उसके जो साक्षी होगा उसके श्रोतृत्व तो नित्य है ये कहते हैं नित्य साक्षर नित्य में श्रोतृत्व नित्य साक्षी नित्य है तो उसका श्रोतृत्व भी नित्य है जैसे सूर्य नित्य है तो प्रकाश प्रकाशकत्व भी नित्य है सूर्य ऐसे कादाचित का ज्ञान से मृषात्व तद भाव तो नित्य में होगा और दूसरी बात अश्रोतृत्व भी नित्य है उस साक्षी में श्रोतृत्व तो साक्षी है श्रोतृत्व तो उसका स्वरूप ही है किंतु तो अश्रोतृत्व भी नित्य है कैसे नित्य है तो कादाचित ज्ञान होगा इंद्रिय विषय सन्निकर्ष से जो ज्ञान होगा श्रवण इंद्रिय और शब्द का जो संबंध बनेगा समवाय संबंध जो बनेगा वो होने के कारण जो ज्ञान होगा वो ज्ञान अनित्य ज्ञान है कादाचित का ज्ञान है जब इंद्रिय और विषय का संपर्क होगा तो ज्ञान होगा नहीं तो नहीं होता तो कादातिक ज्ञान जो होता है वृषा झूठा होता है विषय सन्निकर्ष होने पर है नहीं तो नहीं है कादाचित का ज्ञान से मृषात होना तो कादाचित ज्ञान बोले विषय जन्य ज्ञान वृषा है झूठा है इसलिए वृषा जो वस्तु होता है वास्तव में होता ही नहीं कादाचित ज्ञान है ही नहीं इसलिए नित्य अश्रुतित्व भी है ऐसा होता है तो नित्य श्रोतृत्व तो नित्य अपना स्वरूप से श्रोतृत्व तो नित्य है और विषयजन्य ज्ञान को लेकर के श्रोतृत्व तो है ही नहीं आत्मा अश्रोतृत्व है एक अकाराचित ज्ञान से मिशात्व न जो ज्ञान होता है झूठा होता है मिथ्या होता है तद अभाव इसलिए वस्तु नहीं होता वो इसलिए नित्य में वो अश्रोतृत्व हाँ, शब्द ही नहीं तो श्रोतृत्व कहां से बनेगा ये भी होगा दोनों ही नित्य है श्रोतृत्व भी नित्य है और अश्रोतृत्व भी नित्य है उनके मत में कालाजित का श्रोतृत्व है कालाजित का अश्रोतृत्व इतना भेद है न्याय मत पर वेदांत अश्विन मत है अश्विन मत है वैशेषिक मत में ये जो अभी चल रहा है ये मत अश्विन मते तो कालाचित ज्ञान है इनमें श्रोतृत्वाधिकम विशेष इनके वैशेषिकों के मतलब क्या होगा कालाचित ज्ञान के द्वारा इंद्रिय और विषय के संपर्क से ज्ञान जन्य ज्ञान होना है जब सर्वणेन्द्रिय और शब्द का संबंध होगा समवाय संबंध होगा तो ज्ञान होगा कालाचित का ज्ञान के द्वारा ही श्रोतृत्व आदि का आने से विशेष है ये उन कालाचित का अनित्य है जब इंद्रिय विषय संपर्क होता है तो श्रोतृत्व आएगा तो वेद्य आएगा अनित्य है वेद है जिनके श्रोतृत्व आदि धर्म कालाचित का है और वेदांति का श्रोतृत्व नित्य है वेद होता है इसलिए कहा संयोग जत्व मानते कालाचित मानते हैं ज्ञान को संयोग जत्व आत्मा और मन के संबंध से उत्पन्न होता है ज्ञान से संयोग जत्वम अयोग पद्यम से ज्ञान से आचक्षते कहा एक तो संयोग जन्य मानते हैं और एक काल में अनेक ज्ञान भी नहीं होता एक अयोग पद्य मानते हैं ज्ञान को एक साथ नहीं होता भी कहते हैं ये वैशेषिक लोग ये कहा ठीक हमें कहा ज्ञान से कादाचित तत्व अयोगपत्य का यथाक्रम प्रमाण महा ज्ञान कादाचित का होता है कभी कभी होता है नित्य नहीं होता हाँ। तो एक विषय के ज्ञान था ही नहीं है क्यों विषय और इंद्रिय संधि का जन्य है अनित्य है तो ज्ञान से कालातीत कव्य अयोगपद्य और एक साथ होता भी नहीं इनमें क्रम से दृष्टांत देते हैं ऐसे से उनके दो दृष्टांत है ज्ञान कभी कभी होता है हमेशा में कालातीत होता है इसके लिए अन्यत्र मना अभोग नादर्श बैठा हुआ व्यक्ति है सूर्य प्रमाण दिया उनकी तरह से है बैठा हुआ है इंद्रिय भी है विषय भी सामने है कभी कभी देखता हो भी नहीं देखता क्यों मन अन्य विषय में था सोचता सोच रहा था अन्य विषय भी चिंतन में था तो सामने से क्या हुआ पता नहीं यह है काला चतुर्ज्ञान के लिए उदाहरण दूसरा है युग अयोगपद्य का है कि योगपद ज्ञानानुपद्य मनुष्य लिंगम मन है करके क्या प्रमाण है वैशेषिक को पूछा तो न्याय सूत्र गौतम जी ने सूत्र बनाया यदि मन न होता तो पांचों विषय सामने हैं और पांचों इंद्रिय हमारे पास सामने हैं तो एक साथ सबका ज्ञान होना चाहिए शब्द स्पर्श रूप रस का ज्ञान एक साथ होना चाहिए जब इंद्रिय हमारे पास है और विषय सामने हैं किंतु सामने होने पर भी एक साथ पांचों का ज्ञान नहीं होता क्रम से होता है यही है एक साथ विषयों का ज्ञान न होना अनेक विषय का एक साथ ज्ञान न होना अनेक इंद्रिय अनेक विषयों का संपर्क से एक साथ ज्ञान न होना मन है करके नहीं क्यों उस काल में अनेक विषय अनेक इंद्रियों पर मन जिस इंद्रिय के साथ हुआ तद विषय तद इंद्रिय जन्य ज्ञान हुआ दूसरे के ज्ञान मन जिस इंद्र के साथ संपर्क किया होगा उस काल में उसी का ज्ञान होता है दूसरे इंद्रिय संबंधी ज्ञान नहीं जो तो मन का संबंध तो युगपद ज्ञान अनुपत्ति मनुष्य लिंगम कहा मन के लिए हेतु यही है एक साथ ज्ञान न होना इसी से मन की सिद्धि होती है मन माने प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय तो है ना अनुमान का है विषय एक साथ ज्ञान नहीं होता इसलिए इंद्रिय भी प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय नहीं है में है जो रूप दिख रहा है इसके मतलब मेरा आंख है ये भी अनुमान का विषय है आंख को आप नहीं देख सकते आंख से देखते हैं दूसरे को देखते हैं आंख अनुमेय है आंख माने ये गोली नहीं दृक शक्ति जो है वो है इस प्रकार मन भी अन्वय होता है कहा युगपद ज्ञान होता है से लिंगम बोला इसलिए ना यम बोला ठीक है हमें कहते हैं यदि मनो नश्या तभी चक्षुरादि इंद्रियाणाम युगपदेव में संबंध है उपदेव सर्वेन्द्रिय सर्व विषय का ज्ञान हो यदि मनो यदि मन न होता तो तभी तब तो चक्षुरादि इंद्रियाणाम पांच इंद्रिय हैं ज्ञानार्जन करने वाले पांच इंद्रिय हैं चक्षु स्रोत घ्राण जीवा त्वक ये पांच हैं ज्ञान ज्ञान इंद्रिय जो है तो मन यदि न होता तो चक्षुरादि इंद्रियाणाम पद्यचार चक्षुरादि इंद्रियों का एक साथ होने पर अंधा नहीं व्यक्ति बहरा भी नहीं है सब इंद्रिया काम कर रही हो एक साथ होने पर और योगपद रूपा आदि के संबंध एक साथ सबके इंद्रियों का विषय के साथ संपर्क होने पर स्थिति आती है ऐसा होने पर युगपद एवं सर्व इंद्रिय सर्व विषय के ज्ञानानिशु एक साथ ही सभी इंद्रियों के द्वारा सभी विषय शब्द स्पर्श रूप रस का ज्ञान होना चाहिए किंतु एक साथ ज्ञान नहीं होता एक काल में ज्ञान नहीं होता हाँ, क्षण भेद हो जाता है काल भेद हो जाता है एक काल में नहीं होता सामग्री सत्वा क्योंकि ज्ञानजनक सामग्री वहां है इंद्रिय विषय निकर्ष है यही तो है सामग्री इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष बना हुआ है वहां माने रूप के साथ चक्षु का संबंध है स्त्रोत्र का शब्द के साथ संबंध है ग्रहण का गंध के साथ संबंध बना हुआ है रसना का रस के साथ संबंध है तो का स्पर्श के साथ संबंध है तो ग्रहण होना चाहिए नहीं होता सामग्री असत्व सामग्री है फिर भी एक साथ ज्ञान नहीं होता इसके मतलब मन वहां पर किसी एक इंद्रिय के साथ है जिस इंद्रिय के साथ मन होगा उसी इंद्रिय जन्य ज्ञान उसी विषय का ज्ञान होता है दूसरे का नहीं होता है काम इसलिए मन है करके प्रमाण है यही है युगपज ज्ञान होता है न तो तथा अस्थि एक साथ ज्ञान होता नहीं है अतः क्रमेण तत्त इंद्रिय संयोगी अणुपरिमाण मनो अंगीकरण इसलिए उस उस इंद्रियों के साथ संयोग करने वाला संबंध रखने वाला अणु परिमाण वाला मन मन का परिमाण अणु माना है नया आई वेदांति तो अणु नहीं मानते मध्यम परिमाण इंद्रिय भी मध्यम परिमाण है मन भी मध्यम परिमाण है ऐसा होगा यदि अणु परिमाण मानते नहीं आई जैसे तो जब किसी विषय को देखने के लिए सुनने के लिए बाहर जाना है इसको जैसे रूप देखने के लिए जाना है तो अंतकर्म की वृत्ति निकल मन अंतकर्म निकलेगा किसके साथ निकलेगा चक्षु के साथ चक्षु के माध्यम से निकलना है तो यदि अणु हो अंतकरण तो निकलने के बाद यहां नहीं रहेगा और बीच में भी नहीं है वहां भी विषय भी पहुंचेगा ही नहीं पहुंचेगा यहां भी होगा एक जगह होगा तीनों जगह नहीं होगा इंद्रिय के साथ संपर्क होना भीतर भी रहना विषय में पहुंचना नहीं कर पाएगा और व्यक्ति कहां से तीन जगह होगा किंतु तो वेदांत परिवार आदि ने कहा है अंतकरण की वृत्ति जब निकलती है एक पानी का दृष्टांत दिया है जैसे टंकी से पानी खेत में जाना हो तो नहर का माध्यम होगा या पाइप का माध्यम होगा तो नहर टंकी से निकलना है तो पाइप के माध्यम से जाना है खेत में जा करके खेत का जैसा आकार होगा वैसे आकार में भर जाना उस पानी वैसे हमारे अंतगण की वृत्ति निकलनी है अंतगण निकलना है यहां से तो भीतर भी रहेगा जहां था वो और बीच हो जाएगा इंद्रियों में भी है विषय में पहुंचते विषय में भी और विषयाकार भी बनना उसमें मध्यम परिमाण मानते हैं वेदांत असल अणुपरिमाण नहीं मानते इंद्रिय भी मध्यम परिमाण मानते हैं ऐसा होता है <clears throat> मध्यम परिमाण के मानते हैं वेदांत लोग तो अतः क्रमेण तत्क इंद्रिय संयोगी इसलिए उन्होंने इंद्रियों के साथ संबंध रखने वाला अणुपरिमाण मनो अंगी कर्तव्य इसलिए अणुपरिमाण वाला मन को मानना चाहिए ऐसे वैशेषिक लोग बोलते हैं नैयायिक वैशेषिक कहना है तथा इसलिए युगपत सर्वेंद्रिय मन संयोग अभाव इस काल में क्या होगा सभी इंद्रियों का विषय सामने है सभी इंद्रिय भी है फिर भी एक साथ मन का सबके साथ संबंध नहीं हो पाए क्यों अणुपरिमाण वाला है किसी एक इंद्रिय के साथ संबंध दूसरे में नहीं है अतः युगपत इंद्रिय मन संयोग अभाव इसलिए एक साथ सभी इंद्रियों के साथ मन का संयोग न होने के कारण से सामग्री अभाव सामग्री नहीं सबके साथ संयोग नहीं रहा इंद्रिय विषय मन का संयोग नहीं पाया एक इंद्रिय के साथ है बाकी के साथ नहीं सामग्री अभाव न युवक सब विषय ज्ञान इसलिए सारे सब विषय ज्ञान एक साथ नहीं होता ऐसा कहा तो युगपद रूपादि सर्व विषय का ज्ञान अनुपत्ति लिंग है इसलिए एक साथ रूपादि सभी विषयों का ज्ञान रूप रस शब्द स्पर्श ज्ञान दंड का ज्ञान होना रूपादि सर्व विषय के ज्ञान अनुपत्ति है एक साथ उत्पत्ति नहीं होती सभी ज्ञान इसलिए हेतु के द्वारा मनो अस्तित्व बदलता हाँ, मन है करके कहने वाले जो वैशेषिक आदि हैं युगपत सर्वज्ञान अनुपत्ति इति उत्तम है इसलिए कहा युगपत सर्वज्ञान अनुपत्ति ऐसा कहा एक साथ ज्ञान का होना मन के लिए है ऐसा कहा और एम अर्थम न्यायम पश्यंती पूर्व ये ये जो कल्पना उनकी है युगपत ज्ञान अनुपति मनसो लिंगम है ना और ये सब कल्पना उनकी क्या है न्यायम यदि पूर्व पश्यंती इसको युक्ति संगत है ऐसा मानते हैं ऐसा पूर्व पश्यंती पाठ है न्यायम का पश्यंती के साथ क्रिया के साथ हमने कर देना कहा इमम अर्थम न्यायम पश्यंती यदि पूर्व इस अर्थ को युक्ति संगत है ऐसा करते काणादि मते सिद्धांति ना प्रदर्शित सती काणादियों का मत सिद्धांति ने दिखा दिया उनका ये मत ऐसा मत है काणादि मते सिद्धांति ना प्रदर्शित वेदांति के द्वारा प्रदर्शित कर देने पर तरी काणादादि रीत्या श्रुति द्वय उपपत्ति तो काणादि के द्वारा ही दोनों श्रुति घट जाएगी श्रुति उत्पत्ते आत्मा श्रुतित्व धर्मत्व सिद्धेश्च तथैव अस्तु पूर्वपक्षी सिद्धांति ने प्रति संकते कहा तो यहां पर पूर्व पक्षी हो चाहे तटस्थ कोई व्यक्ति सिद्धांत के प्रति संकल्प करता है तटस्थ नहीं तटस्थ ऐसा है शंका करता मैंने जब इन्होंने सिद्धांत ने नैयायी के मत दिखा दिया उनके तरीके से दोनों श्रुति घट जाएगी दोनों श्रुति जो पहले वाली श्रुति थी समय आत्मा विद्या और श्रोता मनता इत्यादि फिर बिगड़ जाएंगे जब मन के साथ संपर्क होगा तो आत्मा को जाना जाएगा श्रोता मनता भी बन जाएगा शब्दादि के साथ संपर्क होने पर सिद्धांति का भी यही होगा ये कार्य बोला श्रोतृत्व धर्मत्व सिद्धेश श्रोतृत्व धर्मादि सिद्ध हो जाएगा आत्मा को शब्द सुनेगा तो हो जाएगा तथैव अस्मृति पूर्व पक्षी ऐसे ही हो तो हमारे आदि के मत जो है वही मत माना मानो अथवा तटस्थ व्यक्ति होगा दो तो में से कोई एक सिद्धांत के प्रति शंका उठाता है भवतु करके कहा भवतु किम तब नष्टम तुम भी इसी को मान लो ना वैशेषिक ने जो माना तुम्हारा क्या हानि है इसमें ऐसा कहा यदि एवं न्यायम श्यार एवं ये भवतु किम तब नष्टम यदि ये युक्ति संगत हो इनके वक्त तो यही मान लो तुम्हें क्या हानि है वेदांति को बोला किसी ने बोला या तो पूर्व पक्ष ने बोला या कोई तटस्थ व्यक्ति ने बोला ये कहते सिद्धांत ही बोलना चाहते हैं आत्मना कादाचित का ज्ञान है ना श्रोतृत्व धर्मत्व से श्रुति अनुभव आत्मा में कादाचित का ज्ञान के द्वारा श्रोतृत्व कहना श्रुति को अभिष्ट नहीं है आत्मा को नित्य ज्ञान से वहां श्रोतृत्व मानना इष्ट है श्रुति को तो कादाचित के ज्ञान से श्रोतृत्व मानना इष्ट नहीं आत्मना कादाचित का ज्ञान है ना श्रोतृत्वादि धर्म तस्व श्रुति अनुभवित अनभिपतत्वात आत्मा में कादाचित का ज्ञान के द्वारा श्रोतृत्व मानना श्रोतृत्व धर्म वाला मानना आत्मा को श्रुति को अभिष्ट नहीं है इसलिए न तन्यायम ये वैशेषिको मत जो सिद्धांत है युक्ति संगत है यदि सिद्धांति तम पक्षम दूसरे वैशेषिक पक्ष का खंडन करते हैं कहा अस्तु एवं इत्यादि कहा अस्तु एवं तब इष्टम चेत सिद्धांत का यदि तुम्हारे लिए इष्ट हो मान लो क्या मान लो सिद्धांत ने कहा श्रुत्यर्थस्तु न संभवती श्रुति का अर्थ तो ऐसा नहीं होता कादाचित श्रोतृत्व मंत्र तो आत्मा में नहीं है पूर्वादि पूछता है मानो श्रोता मंत्र इति श्रुतिया तद धर्मत्व प्रतिपादना अनुभवता तुम असितम श्रोता मंता ये भी तो बोल रही श्रुति आत्मा को तो श्रोतृत्व मंत्रित्व भी तो है ना कादाचित का है यही पूर्वादि शंका उठाता है मतलब श्रोता मंता इत्यादि है श्रुति कहते श्रोता मनता बोल रही है आत्मा को तब बताओ श्रोतृत्व मंत्रित्व धर्मवान भी आत्मा दिख रहा है प्रतिपादन ऐसे प्रतिपादन होने से अनभिपतत्व असिद्धम आपने कहा श्रुति को अभिमत नहीं कहा श्रुति बोलते श्रोता मनता अभिमत है अनभिपतत्व असिद्धम जो अनभिपत आपने बताया अभिष्ट नहीं कहा वो सिद्ध नहीं है ये शंका करता है किम न श्रोता मनता इत्यादि श्रुत्या था क्या श्रोता मनता जो कहा श्रुति का अर्थ नहीं है क्या सिद्धांत कहते ना हाँ, ऐसा बोलेंगे ठीक है न श्रोता इत्यादि श्रुतिया अविशेष था न श्रोता भी तो बोला है ना आत्मा को न श्रोता न मनता भी है खाली श्रोता मनता क्यों माने अश्रोता भी बोला उसका भी अर्थ लेना पड़ेगा अश्रोता अमनता भी है ये भी घटाना पड़ेगा न श्रोता इत्यादि श्रुतिया ये भी श्रुति है जैसे श्रोता मनता श्रुति है उसमें न श्रोता न मनता ये भी श्रुति है हाँ, न श्रोता इत्यादि अविशेष होता समान है जैसे श्रोता मनता श्रुति है वैसे और न श्रोता न मनता भी श्रुति है समान होने से कालत्रय की धर्म राहित्य प्रतिपादना तीनों कालों में आत्मा में कोई धर्म नहीं दिखाया है किस द्वारा अश्रोता अमंता के द्वारा कालत्रय की भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में श्रोतृत्वादि धर्म राहित्य प्रतिपादन अश्रित्व अश्रोता न श्रोता न मंदा ये तीनों काल में निषेध किया है श्रोता मंदा होता नहीं आत्मा कहा काल तीनों काल में श्रोतृता धर्म राहित्य रहित प्रतिपादन से तत्धर्मवत्व अनवमतम एवं तो श्रोतृत्वादि धर्मवत्व जो कहा श्रुति ने कहा अभिमत नहीं है श्रुति को यही उत्तर देना चाहते हैं सिद्धांति न श्रोता न न श्रोता न मनता है न श्रोता न मनता कहा आत्मा माने वेदांत मन में क्या होता है विषय को लेकर के अनित्य श्रोतृत्व तो इंद्रियजन्य अलग है किंतु तो आत्मा का स्वरूप में वास्तव में श्रोता नित्य श्रोतृत्व भी है और नित्य अश्रोतृत्व भी है क्यों ऐसा है पूर्व में टीका में बोल दिया था साक्षी नित्य है नित्य साक्षरो नित्य में वह श्रोतृत्व जैसे सूर्य का प्रकाश स्वयं नित्य प्रकाश तो वहां हमेशा ही है ये नहीं विषय प्रकाश करने से ही सूर्य प्रकाश नहीं बोला जाएगा उसी प्रकार नित्य साक्ष नित्य श्रोतृत्व कादातीत और दूसरी बात नित्य अश्रोतृत्व तो कादातीत में ज्ञान से मिसात है कभी कभी होने वाला ज्ञान झूठा होता है मिथ्या होता है इसलिए वास्तव में वो है नहीं विषय है नहीं वहां इसलिए नित्य अश्रोतृत्व अश्रोतृत्व नित्य है ऐसा कहा यही बात है पुष्ट करना है इसलिए कहा ठीक आने कहते हैं आगे यदा असौ श्रोता इत्यादिना श्रोतृत्वादे पाक्षिकत्व से त्वया एवं तत्व काणाद पक्ष प्रदर्शन वेलायां च कालाक्षित के ज्ञान में तद उपादना पाक्षिक श्रोतृत्व आदि तद अभाव विषतया श्रुति वैश्व उपदेश पूर्वादि कहता है महाराज आप अपने वाणी को झुठला रहे पहले आपने कहा था श्रोता बोला था यदा श्रोता तदा न मनता और यदा मनता न श्रोता दोनों पक्ष आपने स्वीकार किया हुआ है जिस काल में शब्द सुनता है उस काल में मनता नहीं बनता जिस काल में मनन का विषय चिंतन में डूबा हुआ होगा वो श्रोता नहीं बनता तो श्रोतृत्व पाक्षिक हुआ अश्रुति पाक्षिक है आपने स्वयं कहा पूर्वादि बोलता है आपने यही शब्द बोला था भाष्य में यदा श्रोता पूर्व पृष्ठ में था ना अड़सठ पृष्ठ के शुरू में था यदा असौ श्रोता इत्यादि ना श्रोतृत्वादे पाक्षिकत्व से त्वया एवं उक्तत्व त्वया सिद्धांत ना तुमने सिद्धांत ने यह कहा पहले जब सुनता है तो मनता नहीं होता जब मनता होता तो श्रोता नहीं होता बोला था पाक्षिक श्रोतृत्व माना है आपने पहले यदा असौ श्रोता इत्यादि ना भाष्य में था पंक्ति थी पूर्व पृष्ठ में शुरू में यदा असो श्रोता हाँ, न तदा न मनता इत्यादि भाषा में पंक्ति है यदा असो श्रोता इत्यादि ना श्रोतृत्वादि पाक्षिकत्व से पाक्षिक रूप से तो यही वो उक्तत्व तो आपने कहा इस बात को सिद्धांत ने कहा ये बात तो पाक्षिक श्रोता माना हुआ है अब बोल देंगे श्रोता नहीं है कैसे बोल दिया आपने और काणाद पक्ष प्रदर्शन और काणाद मत दिखाया अभी वैशेषिक मत दिखाते समय में सर कालाचित का ज्ञान है ना है कालाचित ज्ञान के द्वारा श्रोतृत्व का उपादन किया जब शब्द सुनता है तो श्रोतृत्व होता है नहीं सुनता तो नहीं होता श्रोतृत्व भी होगा अश्रोतृत्व कालान मत के द्वारा बताया आपने कालाचित ज्ञान है तदुपादनात् तो पाक्षिक श्रोतृत्व आदि तद अभाव विषय श्रोतृत्व से उपोचिम संगत इसलिए पाक्षिक श्रोतृत्व आदि और पाक्षिक उसका अभाव का विषय बना करके दोनों श्रुति श्रोता और अश्रोता लग जाएगी यही होना चाहिए उपत्ति संगत है शंका करता है ननु कहा शंका है भाष्य में नौनो पाक्षिकत्व प्रतियुक्तम तया आपने श्रोतृत्व का खंडन किया है एक पक्ष में नित्य खंडन नहीं किया है यदा असो श्रोता तदा न मनता यदा मनता तदा न श्रोता एक पक्ष में खंडन किया है पाक्षिकत्व प्रत्युत्तम खंडन तो किया है श्रोतृत्व का आपने मनन काल में श्रोता नहीं बनता बोला हुआ आपने पाक्षिक रूप से न नित्य में वो नित्य में वो श्रोतृत्व का खंडन नहीं किया है श्रोतृत्व आदि अभी श्रोतृत्व भी माना है ना आपने यदा श्रोता तदा न मानता श्रोतृत्व माना आपने श्रोतृत्व भी आपने माना हुआ है ये पूर्वादि ने कहा अच्छा अच्छा ना पाक्षिकत्व ने प्रकृत्व गया पूर्वादि ने पूछा आपने पाक्षिक रूप से कारण किया सिद्धांत ना नित्यम एवं श्रोतृत्व हम नित्य श्रोतृत्व मानते हैं पाक्षिक नहीं कभी श्रोता बनता है ना नित्य श्रोतृत्व मानते हैं क्यों नहीं श्रोतृ श्रुत विपरीत को विद्युत कहा और सुनने वाला का जो श्रुति है उसका कभी अभाव नहीं होता ऐसा कहा है ऐसी मान शब्द वृत्ति शब्दजन्य वृत्ति को जानने वाला जो होगा उसका कभी अभाव नहीं होता यह है नहीं श्रोतु श्रुते विप्रलोपित इत्यादि श्रुते ऐसा होने से हम तो नित्य श्रोति मान श्रोतृत्व मानते पाक्षिक नहीं मानते प्राणादों ने पाक्षिक माना है हम नित्य मानते हैं वो पहले जो हमने कहा था यदा श्रोतानंद विषयजन्य को कहा था अब यहां ले रहे हैं विषयजन्य ज्ञान के जो श्रोता है एक तो शब्द का श्रोता होगा एक विषयजन्य ज्ञान का श्रोता जैसे चक्षु का चक्षु बोलते हैं उस प्रकार से नहीं श्रोत्र सूर्य बिंदु विद्यते इत्यादि श्रोते पूर्व पक्ष बोलता है एवं तरी जितने में श्रोतृत्व अभिगम है प्रत्यक्ष विरुद्धा उपज ज्ञान उपत्ति ज्ञानाभाव आत्मा कल्पित तब बोलता है पूर्वादि करता तरी तब तो नित्य श्रोतृत्व मान्य पर नित्य में तो श्रोतृत्व अभी श्रोतृत्व अभी अद्भुत है श्रोतृत्व अश्रोतृत्व नित्य मान्य पर क्या होगा प्रत्यक्ष विरुद्ध से तो योग ज्ञान एक साथ सबका ज्ञान होना चाहिए नित्य है वहां कादाचित होगा तो कभी कभी मन संयोग होगा तो होगा नहीं तो नहीं होगा किंतु नित्य मानने पर एक साथ सब विषयों का ज्ञान होना चाहिए प्रत्यक्ष विरुद्ध है ये प्रत्यक्ष प्रमाण खंडन कर रहा है एक साथ नहीं होता बोलता है युगज ज्ञान और उत्पत्ति एक साथ सब ज्ञान होना चाहिए दूसरी बात अज्ञान का अभाव भी होना चाहिए किसी का अज्ञान कभी होना ही नहीं चाहिए नित्य श्रोतृत्व तो बैठा है ये दोनों आत्मा कल्पित आत्मा के लिए दो कल्पना करनी पड़ेगी आपको एक साथ सारा ज्ञान होना और अज्ञान का अभाव किंतु प्रत्यक्ष विरुद्ध है ऐसा कल्पना करना एक साथ ज्ञान होता नहीं और अज्ञान का अभाव भी मिलता अज्ञान रहता है किसी विषय का ज्ञान तो दूसरे विषय का अज्ञान होता ही है कल्पना करनी पड़ेगी तत्व अनिष्ट कल्पना करना ठीक नहीं प्रत्यक्ष विरुद्ध है तब अनुष्ठम करती सिद्धांत कहते हैं न उभय दोष पत्ति योगज ज्ञान के ज्ञान भी नहीं न होना एक दोष दिया है योगज ज्ञान होना और दूसरा अज्ञान का अभाव ये दोनों दोष की उत्पत्ति प्राप्ति नहीं है हमारे पास न उभय दोष उपपत्ति दोनों दोषों की प्राप्ति नहीं है योगज ज्ञान होना भी नहीं है और अज्ञान का अभाव रूप दोष भी नहीं है दोनों दोष नहीं आत्मा में ये दोनों दोष नहीं कहा न उभय दोष उपस्थित आत्मा श्रुत्यादि श्रोतृत्वादि धर्मवत्व श्रुति और श्रुति का भी श्रुति माना है आत्मा को ये जो कान है ये तो बाहर के शब्द सुनने वाला है किंतु ये कान का भी कान कहा है आत्मा को कान ठीक है कि नहीं आत्मा तो जो जानता है श्रोत्र से श्रोतम का पंचम वैसे श्रुति का श्रुति श्रुत्यादि का भी श्रुत्यादि है वो तो कान ठीक है कि नहीं वो भी जानने वाला है श्रुत्यादि श्रोतृत्व धर्म तो ऐसा धर्म ऐसा है श्रुति का अर्थ यह है अनित्यानाम मूर्तानाम च चक्षुरादि नाम दृष्टियादि अनित्यम एवं और अनित्य जो मूर्त पदार्थ है चक्षुरादि मूर्त पदार्थ है चक्षुरादि नाम अनित्याम दृष्टियादि जो इनकी दृष्टि चक्षु के द्वारा जो देखा जाता है वो अनित्य क्यों चक्षु का ये मूर्त पदार्थ है दूसरा मूर्त पदार्थ के साथ संयोग होने पर वो दृष्टि ज्ञान होगा वो अनित्य है वो दृष्टि अनित्य है अनित्याराम मूर्ताराम से नाम मूर्त पदार्थ है चक्षुरादि अनित्य है इनका दृष्टि आदि जो इनकी जो दृष्टि है चक्षुरादि की दृष्टि है यह अनित्यम में अनित्य है संयोग वियोग धर्मी नाम ये संयोग वियोग धर्मी है कभी विषयों के साथ संयोग होता है कभी वियोग होता है इनका चक्षुरादि का जब विषय के साथ संयोग होगा तो ज्ञान होगा दृष्टि बनेगी नहीं तो दृष्टि नहीं होगी यह अनित्य है किंतु आत्मा की जो दृष्टि आदि है वो नित्य है अनित्य यथा अग्नि ज्वलम त्रिणादि समय तत्व जैसे अग्नि में कभी जलना होता है कभी नहीं होता है त्रिणादि के संबंध होगा तो जलना हुआ नहीं तो नहीं हुआ वैसे चक्षुरादि का विषय के साथ संपर्क होने पर दृष्टि बनेगी नहीं तो नहीं बनेगी किंतु आत्मा का ऐसा नहीं नित्य है यथा अग्नि ज्वलन जैसे अग्नि में ज्वलन क्रिया है त्रिणादि संयोजन्य त्रिणादि के संयोग होने पर ज्वलन होता है नहीं तो नहीं होता सर्वत तो इसी प्रकार की चक्षुरादि इंद्रियों की दृष्टि ऐसी दृष्टि है दूसरे के संपर्क से होता है इसलिए अनित्य है अग्नि का जलना हमेशा नहीं होता कभी होता है कभी नहीं क्यों त्रिणादि का संयोग होगा जले नहीं तो नहीं चलता इसी प्रकार इनकी दृष्टि ऐसी है चक्षुरादि की किंतु आत्मा की दृष्टि नित्य है वो तो दृष्टि का भी दृष्टि है नहीं द्रष्टु दृष्टि विपरीत पितृ विभाषित हुआ श्रोतृत्वा नित्य होते आत्मा नित्य नित्य ठीक है अपाक्षिक श्रोतृ अभाव श्रुतिभ्याम स्वर सदा प्रतीते पाक्षिकत्व तत्संकोचो न युक्त यदि स्वाभिप्राय विरोध सिद्धांति आशित सिद्धांत कहते हैं भाई अपाक्षिक रूप से दोनों सिद्ध हो जाता है नित्य सिद्ध हो जाए श्रोतृत्व अश्रित्व दोनों सिद्ध हो जाता आत्मा कैसे तो पहले टीका में बता दिया था साक्षी नित्य है जैसे सूर्य का प्रकाश हमेशा ही है वो तो प्रकाशते का प्रयोग किया जाता है वस्तु के सान्निध्य होने पर किंतु तो प्रकाश का अभाव कभी नहीं होता इसी प्रकार यहां भी साक्षी नित्य है जो तो मनोवृत्ति के साक्षी चक्षुवृत्ति के साक्षी जो भी तत्व विरेजन्य ज्ञान की जो साक्षी है वो नित्य है साक्षी हो नित्यम एवं श्रोतृत्व वहां श्रोतृत्व नित्य वो श्रोत क्या है श्रुति का भी श्रुति है माने तब तक इंद्रिय जन्य ज्ञान हुआ कि नहीं है उसको पता लग रहा है उसे तो मालूम है कौन से विषय जन्य ज्ञान यहां वृत्ति बनी है पता होता है तो ऐसा है नित्य साक्षर नित्य में है वो साक्षी का श्रोतृत्व तो नित्य श्रोतृत्व है और चक्षुरादि में सर्वादि में जो श्रोतृत्व आएगा वो अनित्य है ये विषय जन्य होते हैं विषय के संपर्क होते हैं इसमें श्रोतृत्व अनित्य है साक्षी का श्रुति देखते हैं ये होता है इसलिए काजा और दूसरी बात काजादि ज्ञान से मृषात्व न तदभाव न काजादि ज्ञान होता है झूठा होता है झूठा होने से क्या होगा उस भाई में वो विषय न होने से नित्य में को तो अश्रुतित्व तो भी नित्य है विषय जन्य ज्ञान जो होगा वो साक्षी की दृष्टि से अनित्य है अश्रोतित्व तो भी है ये दोनों करता है ये बोलते हैं टीका में बोल रहे हैं अपाक्षिकत्व में श्रोतृत्व भाव श्रुति व्याम सदस्यता प्रतीत श्रुति के द्वारा ये दोनों प्रतीत होने पर अपाक्षिक रूप से नित्य रूप से श्रोतृत्व भी नित्य अश्रोतृत्व नित्य अपाक्षिकत्व श्रोतृत्व तद अभाव है श्रोतृत्व और श्रोतृत्व का अभाव अश्रोतृत्व दोनों श्रुति भ्याम दोनों श्रुति के द्वारा श्रोता अश्रोता दोनों बोला हुआ है इसके द्वारा स्वरसता प्रसिद्ध स्वभावता प्रतीत होने पर पाक्षिकत्व तत्संकोच पाक्षिक रूप से उसे संकोच कर देना कभी श्रोता बनेगा कभी अश्रोता बनेगा ऐसा करना न युक्त इति स्वाभिप्राय गुण अपना अभिप्राय पर विवरण करते हुए सिद्धांति कहते हैं कहा न कहा न नित्य में वह श्रोतृत्व न नित्य ही है श्रोतृत्व अश्रोतृत्व पाक्षिक नहीं ठीक है नो श्रुतेर अनित्यत्व सती तद घटित श्रोतृत्व अपनी अनित्व यदि संकोच आवश्यक होता पूर्वादि का दर्शन थे श्रुति माने यह शब्द जन्य ज्ञान श्रुति का भी जो श्रुति है शब्द ज्ञान का भी जो ज्ञाता है उसके कभी अभाव नहीं होता बोला हुआ है तो श्रुति का अर्थ शब्द जन्य ज्ञान है यहां तो यही है नाम श्रुतेर अनित्य सती शब्दजन्य ज्ञान अनित्य होने पर वृत्ति जो बनेगी शब्दजन्य ज्ञान की वृत्ति बनी शब्दाकार वृत्ति अनित्य है वही ज्ञान शब्द से कहा गया श्रुते अनित्य सती जो शब्दजन्य ज्ञान अनित्य होने पर तद घटित श्रुतम उसके कारण से श्रोतृत्व तो आया है श्रुति का श्रोता है वो शब्दजन्य ज्ञान का भी जानने वाला है श्रुति का श्रोता तो श्रुति शब्दजन्य ज्ञान के श्रोता होने के कारण से तद घटित हो गया उस ज्ञान घटित होने से वो श्रोतृत्व आया वो भी अनित्य ही होगा जब शब्दजन्य ज्ञान अनित्य है वो ज्ञान घटित जो ज्ञान जिसमें घटक बना हुआ है जो श्रोत श्रोता का भी श्रोता बना हुआ है वो भी अनित्य ही होगा संकोच आवश्यक है इसलिए संकोच आवश्यक है आज पूर्वादि बोलता है तो उसके उत्तर में सिद्धांत कहेंगे टिप्पणी है श्रुति माने शब्दजन ज्ञान से श्रुति का शब्द अर्थ है शब्दजन ज्ञान विषय को श्रुति बोला शब्दजन ज्ञान से यह अर्थ है शब्द ज्ञान क्या भी वो सुनने वाला है इसलिए तब घटित होने से अनित्य होगा वो भी जब ज्ञान अनित्य है तो वो भी अनित्य होगा पूर्वाज ने शंका की तब कहते हैं वो अनित्य नहीं है क्यों नहीं स्रोतो श्रुते विपरीलोक विपरीत इस श्रुति का तो विपरीलोक हो जाता है शब्दजन्य ज्ञान जो श्रुति है उसका तो अभाव हो जाता है वो तो विषय संयोग से आया नहीं तो नहीं आया किंतु ये श्रुति का जो श्रोता है शब्दजन्य ज्ञान का भी जो सुनने वाला है वो साक्षी उसका कभी अभाव नहीं ऐसा कहा है नहीं स्रोत श्रुते विवरण को तो पुस्तकया श्रोता का जो श्रुति है उसका आपका जवाब ठीक है टीका में श्रुते श्रोतृत्व अनित्व वचनम श्रुति विरुद्धम है शब्दजन्य ज्ञान का जो श्रोतृत्व है उसको अनित्य कहना ठीक नहीं श्रुति का जो श्रोता है उसको अनित्य कहना ठीक नहीं विरुद्धम यह अर्थ है ये उसका अर्थ है स्रोत श्रुति का जो श्रोता है उसको अनित्य मानना ठीक नहीं साक्षी को अनित्य मानना ठीक नहीं ये श्रुति का अर्थ हुआ नहीं स्रोत श्रुते विपुल को अविनाशी का इसका अर्थ यह है श्रुति नाम नित्यत्व युगपत सर्वज्ञान सियाद कदाचित अभी कश्यचित अभी ज्ञान से अभाव न सियाद श्रुत्यादि सविता नाम सर्वे साम ज्ञान नित्यत्वात न तो इष्टापत्ति पृथक अतः नहीं स्त्रोत्र श्रुति इत्यादि श्रुते अन्य वर्तम तो संगत है पूर्वादि शंका उठाता है महाराज श्रुति मति श्रुति का श्रुति का लोप नहीं होता मति का मति का लोप नहीं होता इत्यादि कहा है तो श्रुति आदि नाम श्रुति मति आदि में नित्यत्व है माने वो श्रोता का श्रुति नित्य है मनता का मति नित्य है ऐसा मानने पर नित्यत्व युगपत सर्व ज्ञान एक साथ सबका ज्ञान होना चाहिए जो उसका है वहां साक्षी है तो एक साथ सारा ज्ञान होना चाहिए कदाचित भी कश्यचित ज्ञान से अभाव अनुसार कभी भी किसी का भी ज्ञान का अभाव नहीं होना चाहिए श्रुति का श्रुति जब नित्य है मति का मति नित्य है माने ये जो इंद्रियजन्य ज्ञान माने वृत्तियां जो बनती वृत्ति के साक्षी यदि नित्य है तो हमेशा ज्ञान होना चाहिए ज्ञान का अभाव किसी का भी नहीं होना चाहिए पूर्वाधिक होता है श्रोत श्रुति मत्यादि नाम नित्य श्रुति मत्यादि श्रोता का श्रोता मता मति का मंता बोला हुआ है ये नित्य मानने पर युगपत सर्वज्ञान से आते एक साथ सभी विषयों का ज्ञान होना चाहिए दूसरा कदाचित अभी कश्यचित भी ज्ञान से अभाव होना चाहिए कभी भी किसी का भी ज्ञान का अभाव नहीं होना चाहिए श्रुतियादि शब्दता नाम सर्वेशम ज्ञान नित्वाद क्यों श्रुति आदि शब्द से श्रुति का श्रुति मति का मति का वो क्या है सब के सब ज्ञान नित्य है इसलिए हमेशा ही होना चाहिए फिर ज्ञान किसी का अभाव नहीं होना चाहिए ज्ञान अभाव नहीं होना चाहिए तो सिद्धांत कहेंगे इष्टापत्ति ठीक है ज्ञान अभाव होता ही नहीं कभी न इष्टापत्ति आप इष्ट की आपत्ति नहीं कर जो इष्ट मानेगा आपत्ति उसकी इष्टापत्ति नहीं प्रत्यक्ष विरोध सभी ज्ञान एक साथ होता नहीं अज्ञान का अभाव भी नहीं अज्ञान है एक विषय का ज्ञान है दूसरे विषय का अज्ञान है अज्ञान का अभाव भी नहीं है प्रत्यक्ष विरोध है ये पूर्ववादी था अतो नहीं श्रोतु श्रुते इति इत्यादि श्रुते अन्य पदों वक्तव्य इसलिए नहीं श्रोतु श्रुतेर विपरीलोको विद्यते अविनाशित्व इस श्रुति का कुछ अन्य परक जैसा सुना ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए अन्य परक अर्थ करना चाहिए पूर्वादि बोलता है अगर श्रोता का श्रुति नित्य हो तो हमेशा ही ज्ञान होना चाहिए किसी विषय का ज्ञान कभी भी नहीं होना चाहिए किंतु प्रत्यक्ष विरोध है ज्ञान हमेशा हो नहीं रहा हाँ, इसलिए वो नहीं श्रोतु श्रुति विपरीत को विद्य थे श्रुति का अन्य परक अर्थ करना चाहिए क्या अन्य परक करना होगा तो टिप्पणी का बोलते हैं पूर्वादि की शंका में अन्य परतम अत्यंत अभाव प्रतिको अभाववत्व न तो ध्वंस अत्यंत अभाव वरत्व कहते हैं देखो अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव ऐसा होगा घटाभाव का अभाव तो घट स्वरूप होता है यह घटाभाव है और यहां पर घटाभाव का अभाव है घटाभाव का अभाव अभाव के अभाव का प्रतियोगी अभाव हो जाएगा घटाभाव का अभाव जो मानेंगे घटाभाव का प्रतियोगी घट होगा और घटाभाव का प्रति घटाभाव के अभाव का प्रति घटाभाव होगा तो ये अत्यंत अभाव ऐसा होता ही कहा अभाव अत्यंत अभाव प्रति अभावत्व अन्य परत्व यही होगा या अन्य परत्व पूर्वादि का अर्थ है माने उस साक्षी के अभाव का अभाव है अर्थ करना पड़ेगा साक्षी के माने श्रोत श्रोति श्रुति का श्रुति का अभाव का अभाव यह अर्थ करना होगा ज्ञानाभाव का अभाव ज्ञान अभाव के अभाव का अभाव ज्ञान होता है ऐसा अर्थ का न तो ध्वंस अत्यंत अभाव बताऊं ध्वंस का अत्यंत अभाव नहीं उसका नाश हो गया उसका अत्यंत अभाव ध्वंस के अत्यंत अभाव का अभाव मान ध्वंस ऐसा अर्थ नहीं करना होगा यह देखिए अन्य पर अर्थ करना चाह संगत एवं तरही कोई बात नहीं शंका उठाई एवं तरही नित्य में श्रुति में आप श्रुति का श्रुति का विपरीत रूप नहीं मानते हैं स्थिति में नित्य श्रोतृत्व तो मानने पर उस साक्षी को प्रत्यक्ष विरुद्धा युग ज्ञानोत्पत्ति आप आत्मन कल्पित विचार ये जो प्रत्यक्ष विरुद्ध है एक साथ ज्ञान न होना ज्ञान होना चाहिए आपके पास नित्य है वो और अज्ञान का अभाव भी होना चाहिए किंतु ये दोनों बातें कल्पना करनी पड़ेगी आपको किंतु सिद्ध नहीं होता प्रत्यक्ष प्रमाण से कल्पित तत्व अनिष्ठा ऐसे करना प्रत्यक्ष प्रमाण विरोध करेगा अनिष्ठा है वो ये पूर्वाद ने कहा कहते हैं दोनों दोष आने वाला नहीं है सिद्धांत को ठीक है कहते हैं इति शब्द शंका समाप्त करता तच्च अनिष्टम इति जो दिया है ये इति शब्द शंका के समाप्त के लिए प्रयोग किया है परिहरती सिद्धांत को दोनों दोष हमारे ऊपर नहीं आएगा साक्षी को नित्य मानने पर श्रुति के श्रोता को नित्य मानने पर कोई दोष आने वाला नहीं एक साथ सारा ज्ञान भी नहीं होता और अज्ञान का अभाव भी नहीं दोनों दोष नहीं आएगा न उभय दोष उपपत्ति का दोनों दोष की उपपत्ति प्राप्ति नहीं है सिद्धांत का क्यों आत्मन हाँ, न उभय दोष उपपत्ति आत्मा में दोनों दोषों की प्राप्ति नहीं क्यों श्रुत्यादि श्रोतृत्वादि धर्म तो आत्मा में श्रुत्यादि का भी श्रोतृत्व धर्मवत्व श्रुति ऐसा सुना है श्रोता का भी श्रोता ऐसा सुना ये जो हमारा कर्म इंद्रिया है श्रोत्र इंद्रिया तो श्रोता है और इसके भी श्रोता है आत्मा कान ठीक है कि नहीं उसको जानने वाला है ऐसा सुना है श्रुत्यादि श्रोतृत्वादि धर्म श्रुत श्रुत्यादि का भी आदि ऐसा सुना है टीका से ज्ञान उत्पत्ति अज्ञान भाव यदि उभय दोष से उत्पत्ति संभव नास्ती इत्यर्थ यही है न उभय दोष उत्पत्ति आत्मा ने जो कहा इसका अर्थ कर दिया एक साथ ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं है और अज्ञान का अभाव भी नहीं होता एक साथ ये दोनों दोष की यह प्राप्ति की संभव नहीं इस काम ने कहा कैसे श्रोतृत्वादेर नित्यत्व कथम उभय दोषाभाव यदि आशंका आपने श्रोतृत्वादि को नित्य मान लिया पूर्वादि बोलता है फिर दोनों दोष क्यों नहीं आएगा एक साथ ज्ञान होना चाहिए अज्ञान का अभाव होना चाहिए जो हमने कहा वही होगा श्रोतृत्व का आप नित्य मान रहे श्रोता के श्रोता को नित्य मान रहे आप नहीं श्रोत श्रोतृ को नित्य माना हुआ है तो श्रोतृत्वादेर नित्यत्व श्रोतृत्व मंत्रित्व ये सबको नित्य मानने पर प्रथम उभय दोषाभाव अभाव दोनों दोष का अभाव कैसे होगा दोनों दोष तो लगा हुआ है उसमें जब नित्य श्रोतृत्व है तो एक साथ सारा ज्ञान होना चाहिए और अज्ञान का अभाव होना चाहिए वो दोष तो है ही है ऐसा कहा ऐसा शंका करके कहते हैं सिद्धांत कहते हैं उत्तर देते हैं आत्मस्वरूप हो तो साक्षी रूप श्रुति है वो जो साक्षी रूप श्रुति है ना आत्मस्वरूप है उसका अभाव कभी नहीं है आत्मस्वरूप भूत साक्षी रूप श्रुति श्रुत्यादे है हाँ, श्रुति श्रुति शब्द का अर्थ साक्षी है वह श्रोता का श्रुति माने साक्षी आत्मस्वरूप बना हुआ जो तो साक्षी स्वरूप श्रुति आदि है नित्यत्व भी हो नित्य होने पर वो नित्य वो श्रुति नित्य होने पर भी दूसरे का अनित्य श्रुति है हाँ, उसको लेकर के एक साथ ज्ञान भी नहीं होता अज्ञान का अभाव भी नहीं होता दूसरे को लेकर ये कहते हैं दूसरा जो वृत्ति रूपक कादाचित श्रुति आदि जो वृत्ति बनने वाली श्रुति है शब्दादिजन्य ज्ञान जो होगा वो कालाचित है इंद्रियादि संपर्क होने पर होगा नहीं तो नहीं होगा आत्मा वाला श्रुति नित्य होने पर भी ये जो शब्दादिजन्य ज्ञान अनित्य होने के कारण से कालाचित ज्ञान भी हो जाएगा और अज्ञान का अभाव नहीं होगा वृत्ति रूपक कादाचित श्रुति आदि अभ्युपाद ये भी स्वीकार किया है ना इंद्रिय वृत्ति रूप जो श्रुति है श्रुति का श्रुति है वो तो पहला वाला जो श्रुति है वो कालाचित है दूसरे श्रुति नित्य है श्रुति का श्रुति है वो हाँ, वृत्ति ज्ञान के भी ज्ञाता है वो ये बोल रहा है तो वृत्ति रूप कालाचित श्रुति आदि अभी हुआ ये भी तो हम स्वीकार करते हैं ना वो तो श्रुति का श्रुति बोला आत्मा को पहले वाले श्रुति तो वृत्ति ज्ञान है वो भी तो हम स्वीकार करते हैं इसलिए वृत्ति रूप कालाचित श्रुति आदि अभिवाह उक्त दोष अभाव इसलिए दोनों दोष नहीं आएंगे क्यों वृत्ति के अनित्य होने से वो भी श्रुति अनित्य हो जाएगी जो वृत्ति रूप श्रुति अनित्य हो जाएगी इसलिए तादाचित ज्ञान भी हो जाएगा कभी संबंध बना तो ज्ञान होना नहीं तो नहीं होना वृत्ति बनेगी नहीं तो नहीं बनेगा अज्ञान का अभाव भी नहीं होगा अज्ञान भी रहेगा ऐसे परिहरण ऐसा परिहार करते हुए इति परिहरण नित्य श्रोतृत्वादिगम दर्शेगी आत्मा में नित्य श्रोतृत्वादि है दिखाते हैं अनित्य श्रोतृत्वादि तो वृत्ति वाला है और आत्मा में जो श्रोतृत्व है नित्य है ऐसा मानते हैं दिखाया आत्मना श्रुत्यादि श्रोतृत्वादि धर्म वो तो श्रुति का भी श्रुति है आत्मा तो पहले वाला श्रुति अनित्य है किंतु तो दूसरा श्रुति नित्य है ऐसा है टीका में कहते हैं आत्मना स्वरूप आत्मना स्वरूपभूतम यह श्रुति आदि आत्मा का स्वरूप बना हुआ जो श्रुति मति इत्यादि है मतेर पंता श्रुतेर श्रोता इत्यादि बोला हुआ है आत्माभूत जो श्रुति आदि है श्रोत्र जन्य वृत्ति साक्षी रूपम श्रोत्र इंद्रिय जन्य जो वृत्ति है वो वो एक श्रुति है वो उसके भी साक्षी है शब्द का जो ज्ञान माने वृत्ति उस ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ उसको पता होता है माने शब्द सुनने के बाद में अंतकरण में वृत्ति बनी वो वृत्ति माने ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ पता लगने वाला कोई है वो होता है स्मृति का स्मृति पहले वाला तो ज्ञान है स्मृति का ज्ञान है पहले वाला स्मृति स्मृति का भी स्मृति आत्मा को बोलते हैं जो उसका भी ज्ञाता है अंतकरण में कौन सी वृत्ति बनी है पता लगता है उसको प्रतिबोध विदितम मतलब क्यों ना का को प्रत्येक मनोवृत्ति के द्वारा जाना गया आत्मा मन के वृत्ति को समझता है जो वही आत्मा है कौन सी वृत्ति मेरे मन में बनी है सबलाकार पाकार दशाकार जो जान रहा है वही आत्मा होता है प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्व विद्यते केंद्र परिसर में शब्द है ये कहा वृत्ति रूप कादाचित श्रुति अभिमान आत्मा आत्मा स्वरूप गौतम यह श्रुति आदि आत्मा का स्वरूप बना हुआ जो श्रुति मति आदि है तो ये जो ये सब हैं स्रोत्र जन्य वृत्ति साक्षी रूप स्रोत्र इंद्रिय जन्य जो वृत्ति बनती है स्रोत्र इंद्रिय के हमारे विषय के साथ शब्द के साथ संबंध होने पर जो वृत्ति बनी हमारे पास भीतर जिसको शब्द ज्ञान कहते हैं आप उसके साक्षी हो उस आत्मा को जन्य प्रति साक्षी रूपम तत्वसार वो साक्षी के श्रोतृत्व आदि तब धर्म पश्य तब धर्मभक्त से श्रोता मनता इत्यादि ना श्रोते उसके कारण से आत्मा को श्रोता मनता बोला हुआ है मानी मनोवृत्ति का भी ज्ञाता होने से उसको श्रोता मनता बोला हुआ नित्य है आत्मा नित्य है तो श्रोता मनता नित्य हुआ वहां आत्मभूत वाला और अनित्य वाला बाह्य वाला है ये कहना चाहते एक अनित्यानाम मूर्तानाम च चक्षुरादिनाम अच्छा आगे अनित्य श्रुति आदिगम तरी ये तो नित्य श्रुति की बात कर दिया आपने जो मनोवृत्ति को जानने वाला जो श्रुति है वह आत्मभूत श्रुति वो नित्य है आत्मनित्य है श्रुति वही स्वरूप है वो नित्य है तो फिर अनित्य श्रुति आदिगम कथम जब एक ही ऐसे श्रुति नित्य है फिर अनित्य श्रुति कैसे होगी तब कहते हैं अनित्यानाम मूर्तानाम चक्षुरादि नाम दृष्टि आदि अनित्यम एवं अनित्य जो मूर्ता आदि चक्षुरादि को दृष्टि कारण हाँ, के लिए श्रुति बोलते हैं इसके लिए दृष्टि बोल दिया वृत्ति है वो चक्ष से विपरीत निवृत्ति वो अनित्य है क्यों संयोग वियोग धर्म हाँ, वो संयोग वियोग धर्म थे चक्षुरादि इंद्रिया कभी विषयों के साथ संपर्क होते थे तो यह वृत्ति बनती थी विषय के साथ सन्निकर्षण तो वृत्ति नहीं बनती इसलिए अनित्य है वो वो श्रुति मति दृष्टि आदि अनित्य है वो अनित्य है ये कहा यथा अग्नि ज्वलनम त्रिनाथ संयोग जत्वा तत्व कहा जैसे अग्नि का जो ज्वलन होना है अग्नि में दाह होना है कब होगा आदि के संबंध होगा तो होगा तो नहीं तो होगा अनित्य है वो उसी प्रकार ये भी है आदि से होने वाली जो वृत्ति है वो अनित्य है किंतु वृत्ति के जो दृष्टा है वो नित्य है वो श्रुति का श्रुति दृष्टि का दृष्टि उसको बोला पहली दृष्टि है वृत्ति और दूसरी दृष्टि है उसको जानने वाला आत्मा साक्षी रूप दृष्टि वो नित्य है इसलिए श्रुति का श्रुति नित्य है इसलिए श्रोता करके नित्य कहा गया और अश्रोता बोला हुआ ये विषय वाली दृष्टि को लेकर वो विषय दृष्टि होती नहीं आत्मा के इसमें वो ज्ञान अनित्य है अनित्य मिथ्या है मिथ्या का कोई भाव होता ही नहीं इसलिए अस्त्रता भी हो जाता है ठीक है अनित्याना तेसाम अनित्व महा उन दृष्टियों के अनित्य कहते हैं अनित्यत्व आह एक नंबर टिप्पण कहा तथा था मूर्तत्व एवं अनित्व जहा जो मूर्त होगा वही अनित्य होगा सबसे राति मूर्त पदार्थ है विषय भी मूर्त है तजन्य होने से वो भी अनित्य हो गया जो मूर्त होगा वो अनित्य होगा तथा जब मूर्तत्व में अनुत्व विधवाग जो मूर्त होगा वो अनित्य होगा सिद्ध होता है कहा वस्तु तस्तु करके टिप्पणीकार कहते हैं सावय तो मूर्तत्व मूर्त अर्थ सावय पदार्थ होता है तच्च अनित्य साधक अनित्यत्व साधक जो सावय होगा वो अनित्य होगा मूर्त अर्थ सावय वो तो जो सावय होगा अनित्य होगा क्यों अवय दूर के बनता है वो अनित्य होता है तद उपादक होता संयोग इत्यादि ना उत्तम इसके सावय का उपादक होता है संयोग इत्यादि से कहा हुआ कहा जो सावय वस्तु का संयोग होता है उत्तम पश्याम ये ठीक समझते हैं ऐसा कहा अच्छा दृष्टियादेर अनित्व हेतु जो दृष्टि माने शब्द माने रूप जन्य दृष्टि माने वृत्ति चक्षु के द्वारा जो रूप का दर्शन हुआ उसको जो वृत्ति बनी उसको दृष्टि शब्द ने कहा नहीं दृष्टि दृष्टि पहली वाली दृष्टि तो अनित्य है दृष्टा की दृष्टि नित्य है ऐसा कहा है साक्षीभूत दृष्टि नित्य है ये अंतर्गत वृत्ति तो अनित्य है ये बोला है तब कहते हैं दृष्टि अनित्य अनित्व हेतु ये दृष्टि आदि जो है दृष्टि मानी वृत्ति ये अनित्य में हेतु बताते हैं संयोग तत्वाद बोलते संयोग वियोग धर्म जो संयोग वियोग धर्म है विषय के साथ कभी संयोग होता है कभी नहीं होता है जब विषय के साथ संयोग होगा तो यहां वृत्ति बनेगी चक्षु का रूप के साथ संबंध होगा तो यहां वृत्ति बनेगी दृष्टि बनेगी नहीं तो वो दृष्टि नहीं बनेगी इसे अनित्य है ठीक है हम कहते हैं संयोग जन्यत्व दृष्टि आदि अनित्व जो अंतकर्म की वृत्ति अनित्य है दृष्टि आदि से वृत्ति है वो दृष्टि स्मृति वृत्ति है संयोग जन्यत्व मैंने विषय के साथ संपर्क जन्य है वो इसलिए वो अनित्य है ज्वलनम इति अनंतरम अनित्यम इति अनुसंग कहा दृष्टांत दिया यथा अग्नि ज्वलनम त्रिनादि तत्व कहा कि ज्वलनम के आगे लेना है अनित्यत्व अग्नि का ज्वलन जो है अनित्य है क्यों त्रिनादि के संबंध होने पर ज्वलन होता है न तो नहीं होता ठीक इसी प्रकार चक्षुरादि की वृत्ति जन्य ज्ञान बनेगा हमारे पास वृत्ति बनेगी विषय के साथ संपर्क होने पर वृत्ति बनेगी नहीं तो नहीं बनेगी इसलिए अनित्य है वो किंतु इस वृत्ति का जो साक्षी है वो नित्य है उसको दृष्टा का दृष्टि माना है श्रोता का श्रुति माना वो नित्य है ऐसा कहा समय हो गया है यह रखते हैं ओम बांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनोरमे वासी प्रतिष्ठिता आदिरादेस्तमाजिता देमा प्रभासी रमेना सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्नामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्